एक और अनेक आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम ट्रिब्यूट है रेडियो शिलोन के पुराने कार्यक्रम एक और अनेक को जिसमें एक आर्टिस्ट के साथ अनेकों हस्तियों के काम से संबंधित गाने आपको मिलते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है के एल सैगल साहब को जिनके सोलो आपको ज़्यादा रेडियो पर सुनने को मिलते हैं पर उनके कई डुएट भी हैं जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो आइए सुनते हैं आज का पहला गीत जिसे लिया गया है भक्त सूरदास फिल्म से जो 1942 में प्रदर्शित हुई थी इस गीत को उनके साथ गाया था खुर्शीद ने इसके बोल लिखे हैं डीएन मधोक ने वह संगीत है ज्ञान दत्त का पसंद आया ना गीत इसी फिल्म में एक और दो गाना था के एल सैगल साहब का इस बारी राजकुमारी दुबे जी के साथ इसे भी डी एन मधोक ने लिखा और ज्ञानदत्त ने स्वरबद्ध किया था यह गीत जितना भी सुनो उतना ज़्यादा सुहाना लगता है तो आइए सुने इन दोनों मस्तानी आवाज़ों में यह गीत फिल्म भक्त सूरदास से क्या महान आर्टिस्ट थे उस टाइम के उनकी आवाज़ों का रस आज तक शहद की तरह कानों में परस्पर घुलता रहता है अगला जो गीत है उस गीत का किस्सा काफ़ी इंटरेस्टिंग है यदि आप गीत कोश देखें या रिकॉर्ड भी तो आप उसमें पाएंगे कि उस पर लिखा है कि इसे सहगल और साथी ने गाया है पर वास्तव में आप इस गीत को सुने तो आप पाएंगे कि सहगल के साथ उन साथियों में दो और 40 के दशक की मशहूर प्लेबैक सिंगर्स मौजूद हैं वे दोनों थी कौन सुनिए ये खूबसूरत गीत और अगली साइड मुझे बताइएगा आपके हिसाब से कौन थी सुनिए गया कन्या भोगारा जी गुरू में मारा जीअं थी मारा नहीं दूर थी वो अदा क्या अदा थी देखना तुम्हारा झिझकना तुम्हारा देखना तुम्हारा झिझकना तुम्हारा लुट गया वो बेचारा लुट गया वो बेचारा बिचारा दुख गया वो बिचारा आपने शायद पहचान ही लिया होगा ये दोनों आर्टिस्ट थीं अमीरबाई कर्नाटकी जी और नसीम अख्तर जी ये खूबसूरत गीत दिया जिसने दिल था फिल्म भंवरा से जिसे लिखा था केदार शर्मा ने वह संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश ने अब आगे बढ़ते हुए हम एक आर्टिस्ट की आवाज़ सुनेंगे कई लोग इस आर्टिस्ट के बहुत फैन हैं पर नहीं जानते कि सैगल साहब ने उनके साथ गाने भी गाए हैं ऐसा क्यों कुछ तो किस्सा है इस गाने के बाद सुनेंगे Thank you. पहचान नहीं पाए उनके लिए बता दूं कि अभी आपने ये गीत सुना के एल सैगल साहब बच्चों और कानन देवी की आवाज में इन दोनों महान आर्टिस्ट ने साथ में काम किया था मशहूर फिल्म स्ट्रीट सिंगर में क्योंकि कानन देवी जी का मेगाफोन के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए उनकी आवाज दूसरे किसी रिकॉर्ड लेबल पर आने की आज्ञा नहीं थी इस सब के चलते इस फिल्म में उनके द्वारा गाए दो गाने निकल ही नहीं पाए रिकॉर्ड्स पर सैगल साहब के साथ लेकिन फिल्म में दो गाने मौजूद थे तो आइए सुनेंगे इन्हीं का कुछ गाए हुए गीत और इस गीत के साथ आपको डायलॉग भी मिलेंगे गानों भरे डायलॉग और डायलॉग भरे गाने तीस की दशक के खासियत हैं सुनिए जब इतने लोगों के सामने उठ पटांग गाओगी तो इसमें मेरी बदनामी ना होगी लोग कहेंगे कि भूलवा कुछ सिखा ही नहीं सकता उनके कहने से देखो मैं गा सकती हूँ कि नहीं ऐसा कोई सुहावन सपना जन्म आया सब अपना अपना ऐसा कोई सुहावन सपना जन्म आया न खी न कहा लक्ष्मी मुहूर्तर लक्ष्मी महूरत दरस ना जनम सी भु लालके भाष्ट जनम की भेण कदमा न ए फल है पई जनम हो ज टैगल साहब का कानन देवी के साथ क्या खूबसूरत तालमेल था इस फिल्म में काश इन्होंने और फिल्में भी की होती आप सब लोग जानते होंगे कि तीस के दशक में सहगल साहब ने बंगाली फिल्मों में भी काफ़ी काम किया था ऐसी ही एक फिल्म थी जीवन मरण इस फिल्म का संगीत पंकज मलिक साहब ने दिया था और इस फिल्म के गानों को लिखा था अजय भट्टाचार्य ने इसमें एक गीत था जो उन्होंने सुप्रभा घोष के साथ गाया था जो उस जमाने की काफी अच्छी आर्टिस्ट थी तो श्रोता बंधु एक्टो गान শুনো কৃষ্ণ রাধাকে ডেকে বললেন রাধা এমন অসময়ে তুমি এখানে কেন রাধার বড় লজ্জা হলো তারপর তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কি বললেন বন্ধু বন্ধু আমি পাই না আজিকে তোমার লাজে শ্রবণের কথা কহে তো কি কথা আর কি ছলো না সাজে যা যা তাই বাজা কৃষ্ণ সবই বুঝলেন বললেন আজি অসময় যমুনার কুলে কেন এলে আজি অসময় যমুনার কুলে কেন এলে আরে প্রভু বাজে জলনিতে আসি নদী তীরে আরে প্রভু বাজে জলনিতে আছি নদী তীরে পুরবাসী জন পুরবাসী জন পুরবাসী জন কালি ফিরে তুলে ফিরে গেলে পুরবাসী জন পুরবাসী জন কালি ফিরে তুলে ফিরে গেলে কে জানি তো কে জানি তোহার আছে শ্যামগায় কে জানি তোহার আমি যাই কেড়ে যাই গো কেড়ে যাই আমি যাই কেড়ে যাই গো কেড়ে যাই আমি মনের কথা আমি মনের কথা মনে রেখে যাই কেড়ে যাই গো কেড়ে যাই বাবুরি না লোয়ে জল দিতে আকাশ শুনে থেকে গো অঞ্চলে বুঝি অঞ্চলে বুঝি জলে নেতা অঞ্চলে বুঝি জল নেবে বাঁধি নূতন আমাদের জীবনে আর কিছু দরকার নেই तो। यदि हम 30 के दशक की बात करें तो न्यू थिएटर्स में सैगल साहब के सामने मशहूर अभिनेत्री व गायिका उमा शशि काफी प्रचलित थीं। उन्हीं का सैगल साहब के साथ एक खूबसूरत गीत हम सुनेंगे फिल्म चंडी दास से जिसे लिखा था आगा हश्र कश्मीरी साहब ने और संगीत दिया था आरसी बोराल साहब ने यह गीत मुझे व्यक्तिगत तौर पर काफी पसंद है आप भी इसका आनंद दीजिए त खावो प्रेम पढ़े प्रेम में सुख सदा में सुख दास कपिता जलीवन प्रेम कलिता जलीवन प्रेम ही त चमकतं कविताय यजीवन प्रेम हो प्रेम प्रेम में सुख प्रेम में सुख प्रेम के संग प्रेम के संग कविताय जीवन प्रेम ही का नादा नहीं है कि सहगल साहब ने सिर्फ महिला गायिकाओं के साथ ही गाने गाए उन्होंने पुरुष गायकों के साथ भी एक दो गाने जरूर गाए थे ऐसा ही एक दो गाना जो मुझे बहुत पसंद है मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ जो है 1936 की फिल्म करोड़पति से इसे लिखा था केदार शर्मा ने और संगीत दिया था आरसी बोराल साहब ने इसमें के एल सहगल साहब के साथ कौन दूसरे आर्टिस्ट हैं सुनिए और बताइए पिता सुठा सुम जी ही बात किताब इसम देखी हैं और ये बातें किताब इसम देखी हैं और ये बातें और इश्क के दीवाने वो हुस्न के परवाने और इश्क के दीवाने वो हुस्न के परवाने हम भी तो तुम्हें आके क्या है तेरे अफसाने हम भी तो तुम्हें आके क्या है मेरे अफसान सबका सुसान पर आज बयां करेंगे सबका सुसान पर आज बयां करेंगे फिर आंसुओं के दरिया हर आंसू से बहेंगे फिर आंसुओं के दरिया हर आंसू से बहेंगे ओ दिल बाधा जुल्मों से कहेंगे ओ दिल बाधा तुम कहेंगे बूझ पाए आप ये कौन आर्टिस्ट थे ये थे 1930 के दशक के मशहूर अभिनेता व गायक पहाड़ी सान्याल साहब आइए अब एक और खूबसूरत गीत सुने इस गीत में उनके साथ जो गायिका गा रही हैं वह अगली जनरेशन की गायिका व अभिनेत्री कहलाएंगी सुनिए और बताइए कौन है ये आर्टिस्ट कॾहिं मै कयां कॾहिं आ गुठा दुकान आज में उठा दुकान आज मोर नाच बस बसि आख़िया आज नच में छाया तो पहचान पाए आप हिंट दूं कुछ इस गीत को लिखा था स्वामी रामानंद ने और संगीत से सवारा था लाल मोहम्मद साहब ने कुछ घंटी बजी नहीं बजी हो तो बता देता हूँ कि यह गाना था फिल्म तदबीर से जो 1945 में आई थी और सैगल साहब के सामने इस फिल्म में अभिनय किया था हमारी सबकी प्यारी सुरिया जी ने और वही इस गीत में आपको गाते हुए सुनाई दी होंगी तो कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम हमारे जाने का समय आ चुका है फिर भी जाते जाते मन कर रहा है कि एक और गीत सुना ही दूं और अंत हम करेंगे उसी गायिका के गीत के साथ जिनके साथ हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी खुर्शीद जी जिनके बहुत अच्छे गाने हैं और वे एक अच्छी एक्ट्रेस भी थी अफसोस वे बाद में पाकिस्तान चली गई थी पार्टीशन के समय और हम उनके बा, बाद के समय में गीतों से वंचित रह गए मेरे नाना जी को उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी और उन्हें बहुत दुख था कि वे आज़ादी के समय यहाँ से चली गईं तो आइए सैगल साहब और खुर्शीद का ये खूबसूरत गाना सुने जिसे लिखा था पंडित इंद्र ने और संगीत से सवारा था खेमचंद प्रकाश ने यह गीत है इन दोनों की प्रचलित फिल्म तानसेन से इस गीत की मधुर स्वरों के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ खुश रहिए गाने सुने और सुनाते रहिए कार्यक्रम की रिसर्च के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र मदानी जी और उनकी कुंदन लाल सैगल वेबसाइट के सब कॉन्ट्रीब्यूटर्स को धन्यवाद अब तुम्हारे मेल में मैं नए राग बनाऊंगा मेरी रागनियाँ बनाऊंगा शहनशाह अकबर पेश करूंगा और इनाम में तुम्हें मान लेगा नहीं नहीं हाँ चक करू पंखे पहिरां चक्रू पंज पैरा हा नायामे मेरा पुतला